வாழ்த்தேஜே தேவஜி சிவனா ஹரிதன பையா Come on. बदला कर चुक भैया यदि मेरा बदला कर चुक भैया जी जे बदला कर चुक भैया रे नाय छोड़ भाग वान हाथन तुम तो आरती और जब भगवान ने ना छोड़ बुझूट बोल बात जी जी माटी का बनवाले रे दो दिन के स्वभाव बात अरे मेरी लकड़ी का मेरी माटी का मर जाते जे जे होते का हरियोरी न जान में बात यारी न जाने आयो आज तेरो जो भाई हो तो, तो तेरे भात भरवा के लिए आ ना पड़ते तो फैले भाई हाथ से तो खत्म कर दिए मेरी सुन सुन रही है लादी राजा भगचंद की भतीजी देव जी की तू बहना अरे जी जी तेने भैया तो ना जन्मो भातैया ना जन्मोरी में जन्म धरूंगी दूसरो आज मेरे कौन भात ले रहा है भैया की संग की सहेली या की दौरानी जिठानी सब बोल देवा लगी अब तो हमारा भाई इनका ले लेर बैठी है और हमारा घर तो खा खार बैठी है तुम्हारा बदला चुका दे हमारा अदला चुका दे तेरे सोन कंवर के ब्याह में कभी नहीं हमको देख तैने जो बदला लिया है हमारा भाई ने धोती तो को अच्छी दिया तो हमको बुरी दे दे अच्छे खवाया तो हमको तो बुरा खवा दे पर हमारा बदला चुका दे मैं अदला खाते लियाऊं तो हमको बदला खा तो लियाऊं ना मेरे कोई नहीं है मेरे जो इनको चुकैया कैसा आगो जरा मैं चुका हूं अरे आज तू लकड़ी को घड़वा ले तू माटी को बनवा ले कोई खाती पे बनवा ले लकड़ी को या कोई खुमार पे माटी को बनवा ले मेरी लकड़ी का सु मिमता मेरी माटी का सु तिसना येरी मेरे माँ का जाया बिन ना भरे ना इन इनसु मिमता भरेगा भरेगी जो तो माँ का जाया सिंह आज मैं छट छट के चौबार मैं छट छट के चौबार मैया का जाया देखती अरे तू गैला वो बना ले गैला चलता है कोई बना ले माँ को जाए भाई तू गैला चलता को बना ले गोती भैया बना ले कोई गोती भाई है तेरे गोती है जय को भाई बना ले गोती भैया बना ले गेला चलता है बना ले दो दिन की शोभा दे वो तेरा भात की मेरी गेलुआ तू मिमता गोती भैया तू तिसना तेरी मेरी माँ का जाया मिलतो ना भरे ना और सु तृष्णा ना भरे भरेगी जो तुम तो का जाए से भरेगी काका का बाबा का तेरी मामारी छोपी का पीर में तेरे बहुत हैं तो उनसे जार मिल लीजियो छाती लगाए मेरी काका का तुम मिमता मेरी बाबा का तुम मिमता री मेरी माँ का जाया बिरतो चाहे मैं लाख उनसे मिलूं पर मैया जाया बिरत मेरी मिमता भीतर की नहीं भरेगी तो कैसे फिर एक वो जो कहती है दौरानी जिठानी कैसे एक दौरानी जिठानी बोलते हैं और कैसा और ये सुनती है कौन घर कौन घर जाऊं मैं कौन सुन तो मिलूंगी आज मैं कौन घर था तो पर जाऊं जल हरिया प्यारी पा Bye. sange samulade kawabira boro re parla jore maiya kajaya bire rasa toy na ರಸತ ಕೌವ ಬಿರಸುದಾರ पण रस तार वा नंगरी नंगरी जाय चाच मंडवा तो सुआ तेरी चाच मंडवा कौआ बेरा चाच जरा मुंडवादर मैं सोना सोना सार पार पर मैं श्यार तेरी पार पर मैं श्यार कौआ मेरा पार पर मैं मैं मोती रहती मोए बोरो बोरो लियाद मोए संडे सार लियाद कौआ बोरा था पढ़ लियाद रे मैया का जाया वीर कागद कागद लिख दे यरी मोए पातर पातर लिख ಕಾಣದಾರೆ ಕೌ ಕಾಯ ಕಾಳ கதிர பாச்சரமையாய் காய जल हरा पार प्यारी पानी में कुणका आंगन में बैठूंगी जार कुणका कंठन की भर लू बात ना मैं हूं हाँ, भाई तो तेना हाथ तुम्हारे और तू के चले के जार बैठी तो कौन आदर दे तो अपना मन में और रो रो के परेशान कर दे इतना में और कहो बाकी रोशन बाहर बोलिए या का मंगरा पे आप बोलो या की रोशन पे आप बोलो रे पियर को काड़ो खा लियो कौआ पीरा मोए बोरो लिया दे संडे साहब मोए लिया दे रे मेरी टोटा नंगरीवा शहर का वो को हाथ तो बोरो लिया दे कि मेरो भाई ये जिंदो है अकिया नहीं कहो फेंका जब मैं रास्ता ना जानू जी जी मैं दगड़ा ना जानू रही वह तेरी टोडा नगरी शहर का ना अरे भाई तू सुधो रस्तो सुधो दगड़ो है तेरी चौंच सोना मंडा दूंगी तेरा पर पर में मैं मोती लटका दूंगी पर तू जरूर एक बार जा तुम वो बोरो लियार दे दे के बोरो तो आ दूंगो पर तुम वो चिट्ठी लिख दे और मेरा गला में बांध दे तो क्या कुछ चिट्ठी लिख के और कौआ का गल में बांध दी कौआ वहां से उठ के और रहा रखे और रोशन पे जाए बोलो बोलते ही लोगो भाई हाँ बोले बहन का गांव सु आए आ भाई खे बोरा समाचार के भाई मेरी यह चिट्ठी खोल ले रही हम बाद में जो बोरा समाचार कचुआ में है भाई ने चिट्ठी बांध कर देगी हाँ आज बहन को काम पड़ो है जो आज बहन ने भाई याद करो आज वो भाई चाहिए जैन्या को भाई नहीं चाहिए जो जैन्या में वाने हाथन सो और छुरा तो काटो आज तो वो भाई चाहिए तो बांसते और पच छाती भरी है ले भाई बहन ने आज तू तो याद करियो है जहन ने तेरी इतनी दया नहीं करी अगर मैं यार क्यों मारूं वो कोई टाइम पे टाइम पे तो मेरे भाई याद वो करना हो पड़े तो कैसे माँ बेटा दोनों अब बतलाता है अरे भाई ऐसी कर अब वाकई करने वाके संग रहेगी पर तू आके जरूर भात भरवा जो और तू वस्तु तो मिले तो तू मिल जो मत बस मिर्ज अगर भात तो भाई जरूर नष्ट धन दौलत के संगाती देखो सुख का तो संगा बहुत विपता में न साथी देखो कोई औखा में न साथी अब तो विपता में न साथी रह बात तो भरिया जो बात भरिया जो बीरा भात रे भरिया जो रे वाह माँ की जाए बहन बदला तो चुका बका अदला तो चुका आज का बदला रे चुका जोर दोराई उनका और कौआ वहाँ से भी हुई जाए अब वहाँ से भी हुई வேண अम्मा से बाते बाते आवे तेरे बाते बाते आवे तेरी सोने ना गली तेरा मांडा पे हुडावे येरी तो मांडा पे bora, bora, olha, e ter o Bahia, toia. बेटा का बेटा का इकलो इकलो जाजो ने जो पहले तेरा संग में पर बाबा को ले गया और रांडा वो मार दिया तो जुलम हो जाएगी ना तू तो आगे इकलो ही चले जा વાયે આગ ચલ દી આયા નલાતા કપડાઈ લે આ ભઈ આલાત રણ લે આર બને જ ક ચા જયો Ah! बदला तो चुकाया यरिया की दौराने जिठाने रपोले पठाड़ी और Bye. सुगण सुगण बात वात भरो वायेन वायपौळिक माययजे ये समापत यही भाव होता है और जब बहन सो है आने अरे बहन तेरी करने तेरे लारे मेरी करने मेरे मेरी लारे मैं तो सो आज मिलूँ उनका तो भाई ले भात और चल दियो भेंट गए जहर भेंट के गांव में पहुंचो दौराने दौरानी जो ठीक पड़ गो अब जरूर आगे भाती आ गयो अरे वह को आदर तो ले लीजो तेरो भाई आए वह को अत्र आदर कर तो यार बहन ने आदर करो पर भाई को कितना आदर करो आका जो मन में ही जो तो मन में ही या कि दौरानी जिठानी या का संग की सहेली सब जुड़ मिल के आई पौड़ी पे ये ठाडी भाई माता जाए भाई तू अब मेरी संग की सहेली दौर जिठाने सब भेड़े तो आवाज है तो जाए भाई पौड़ी में पहुंचो कि बहन जैसा तेने लिया है जैसा तेरी दौरानी जिठाने को ले ले तो वो ओढ़ बनाया छोड़ू और ये नो नहीं कहेंगे तेरा भाई ने हम आपको फलानी चीज ना दी ना तेरा बदला तेरी दौरानी जिठाने का चुका दूंगा तेरी कोई संग की सहेली कोई बैठवाणी है तो उनका भी तो दौरानी जिठानी संग की सहेली ने वो सगरा बदलाया ने चुका दिया दे के उनको अब बहन अब तू भी आ जा बहन को पौड़ी पे उठा दी उठा करके बहन को और भेंट थाड़ी धर के और बच भाई की बात भरवा को मिलवा को आई बस उल्टोई दो के बहन कुण को भाई और कुण की बहन वो तो एक मैंने एक मेरी आत्मा सू नहीं वो दिन तेने मैं हाथन तो मारे हो पर मैं जब भी तेरी पौड़ी पे और भात ले रहा हूँ तो भर भात और बहन तू नहीं मिले तो बहन तो की वहीं रोती खड़ी पौड़ी पे रह गई है और भाई ने अंजल में नहीं कर यार वापस भाई अपना गांव को आ गया है तो जा करके આને अपना पण पाड़ा तो बहन के भात फौज भी भरी आया नहीं बहन ने तो यह हाथों से खत्म कर दिया यहाँ ये भाई बहन का भात गाय गया के कवल गनालो गाय इसका बाप ने खंडाया गया साझाई में दान करो जगह न्यारो हो के दान कर जब यानी न्यारो जम्मा माता का बंदा के नीचे जय पर जो वह गाँव बसायो का ना न्यारो गाय ऐसा दान मांगे न तो कोई दे न कोई ले तो हो और जाच को घर घर का दो दो चार मैं तो मिलू बसे लोहड़ी माच में वासु भाई मोटो मोटो ले जो दान है भाई जाति मजलिया मजलिया चालता और मजलिया पड़ता जाए मजल कूच के चाल कहना पहुंचा था पानी हरी निकलने जाए तो बूझ का कुआ पर पानी भर रही थी मेहता की मेहरबानी पांच सात दर्जनी जब सातिन ने क्यों बोले मेरे तो दातार होगा तो बोले ये आप जनानी कह देंगी तब कुआ का ऊपर जाए जब जनानी बतला हुई हाँ पानी हरी से पूछ लो <clears throat> हरी पड़ियारी हो कहीं बतलाओ गुड़ गुड़ बापड़ी करड़ा जवाब करो ये कुन्या का काम वाला तोड़ भी मांगता को तोड़ दान तो करो अरे बोले भाई कहीं बतला रही हो तुम्हें ये जे इनको दान दे दो जब कोई भी बैरबानी नहीं जनानी नहीं बोली जब उस मेदाई की जनानी बोली अगर ना वहां गुड़ गुड़ बापड़ी नामे करा जवाब करा मेरा पीर को संदेशो कल्याण मोह कांकड़ पर ही दान दे देती यहाँ भाई को नहीं देती तो जा चक्कर में ये बात जिनकी जनानी ने इतनी बात कर ली तो मैं तो जरूर भी दाता से तो ये जब पानी भर के और ये अपने बस्ती को चल रही भाई आगे आगे पणियारी चालती पीछा सु जाच की जाए जाती जाती असारो कर गई करगी झीमेदा डावने महारा कंधा ये जाच का आगा लहरी जी माच तो बैठे हुए हो सभा में बैठे हो अपने बता चीता कर रही हो जाती जाती असारो कर गई हाँ तू डॉडो हो जा तो वो समझ दान को आ गया तो वो समझ गई तो मैदान सब भाई बेटा मैदान साथी डोटा करया गयो घोड़ा कार तबेला माय बारो लियो मे तो डाड़ो तो झाड़ रही है घोड़ा हंडी लीड तो घोड़ा के पीछे लीड झाड़ वाला को भी चले गया ना कैसे उन्हें जब फिर जाते करने खाइए अरे मंगणो में आगा थाने जात बार लेता आया सौण सकल सभा में जाचा आज क्या था मैं धन में तो शीरो मीणो से कौन है दान को आया तो दान दे दे हम तो जायज बाबा लिया तो वो कोरा राबड़ी का भूत कोई नहीं बोले जब घोड़ा ने का पीछा से मैदान की बोले बंचो ठाली रोटी खाओ तो कोई भी उत्तर नहीं दे जवाब नहीं दे रहे हैं तो फिर कहिए घोड़ा ने का पीछा से जात को मैं तो गिर गयो डूंगरिया खेलन गयो शिकार मैं लीली घोड़ी को चलवा तार चुरे वो गाय गया जी तब कब लगनाड़ो का बाट जाओ भाई तो आठ गांव गयो कब तक बाट देखोगा दान लो तो मैं दे तो तुमको थोड़ा बहुत भाई घोड़े इनकी ली झाड़ू की भाई छोटा मोटा दान ले ले जाओ जब उनने कोई समाज सुज्ञान तो ये बोले इनमें इधर कोड़ा ये